द्वा सुपन्ना सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषद सो जाते सुपन्ना विव एक वृक्षम यहीं से चलेगा फल उपभोगार्थम सुपन्नो इव पक्षी के समान एक वृक्ष में स्थित है फलोपभोगार्थम फलोपभोग के लिए पक्षी वृक्ष में आश्रित है वृक्ष के फल खाने के लिए इसी प्रकार यहाँ भी वृक्ष में स्थित है फल उपभोगार्थम अयम ही वृक्ष ऊर्ध मूल वाक शाख अश्वत्व व्यक्त मूल प्रभव क्षेत्र संज्ञक सर्व प्राणी कर्म स्तम परिस्वक्त सुपना विवाह विद्या काम कर्म उपाध्याय आत्मेश्वर ईश्वर परिशक्तो अयम ही वृक्ष है ऊर्धमूल ऊर्धम मूलम यसे स ऊर्धमूल वृक्ष का मूल ऊर्ध है ऊर्ध्व है कारण है टीका में ऊर्धम उत्कृष्टम ब्रह्म मूलम यस्य ऊर्ध शब्द का अर्थ क्या उत से ऊर्ध है उत्कृष्ट है उत्कृष्ट है ब्रह्म मूलम यस्य मूलम का अर्थ अधिष्ठानम अस्य ऊर्धमूल मूल ब्रह्म है अधिष्ठान ऊपर नहीं है का अर्थ तो ब्रह्म उत्कृष्ट ब्रह्म ब्रह्म जिसका मूल वृक्ष का होता है मूल या ब्रह्म है अधिष्ठान ब्रह्म में ही सारे प्रपंच है ये इत ऊर्धमूल भाष्य में आया अयम ये वृक्ष ऊर्धमूल आगे अभाग शाख नीचे उसकी शाखा है अश्वत्थ अव्यक्त मूल प्रभाव टीका में अवांच शाखा अशैत्य अवा शाख अवांच है निकृष्ट है ऊर्ध्व हो गया ब्रह्म नीचे निकृष्ट है प्राणादय हिरण्य गर्भ से लेकर के बाकी जितने सब ये शाखा युव शाखा के समान वृक्ष में जैसे शाखा अलग अलग है एक ही वृक्ष माने अनेक शाखा है बड़े बड़े प्रधान शाखा फिर शाखा पत्र पुष्प होकर के इसी प्रकार प्राणादि प्राणादि हिरण्य गर्भ मुख्य हो गया समष्टि प्राणाभिमानी आदि से आगे सब स्थूल सूक्ष्म सब प्रपंच शाखा के समान शाखा ही वह सहित अभाग शाख ऊर्धमूल अभाग शाख अश्वत्थ अश्वत्थ पीपल वृक्ष को कहते हैं ये संसार वृक्ष इसी प्रकार अश्वत्थ है अश्वत्थ है स्व टीका में स्व स्थानम नियंतुम अस्य न सक्यम इत अश्वत्थ स्व काल को इसका स्थान स्थिति स्व स्थाता काल को रहेगा ये वृक्ष ऐसा नियम नहीं है ये संसार यह वृक्ष है ये यहाँ वृक्ष है यह जो शरीर है वृक्ष संसार भी वृक्ष है यहाँ वृक्ष यहाँ शरीर में स्थित है शरीर को वृक्ष कहा ये वृक्ष जो है ऊर्धमूल अभाग शाख अश्वत्थ है स्व काल को आने वाले स्व एक ही गत दिवस को यह कहते हैं स्व है आगामी दिवस को अब ये स्वस्थानम नियंत्रम से न सक्यम ये काल को रहेगा ऐसा नियम नहीं है काल क्या एक क्षण के बाद क्या होगा पता नहीं ये इस नियम नहीं है शरीर इसलिए उसका नाम दिया अश्वत्थ अश्वत्थ ये वृक्ष का नाम अव्यक्त मूल प्रभव अव्यक्त मूल से उत्पन्न होता है अव्यक्त है इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं होता तो अव्यक्त अव्याकृतम कारण रूप है आगे नाम रूप प्रकट होता है तो व्यक्त होता है उसके पहले अव्यक्त अव्याकृत है माया है अव्याकृतम मूलम उपादानम उपादान कारण अन्वयी उपादान कारण होता अन्वयी कार्य के साथ अन्वय होता है अन्वयी परिणामी है उपादान कारण तस्मात् प्रभवती अव्यक्त रूप मूल से प्रभवती प्रभाव उत्पन्न होता है तथोक्त तथोक्त का अर्थ अव्यक्त मूल प्रभव ऐसा कहा गया अव्यक्त अज्ञान से उत्पन्न होने से मूल जब तक है तब तक रहेगा यावत अज्ञान भावी त्यर्थ अज्ञान जब तक तब तक रहता है एक नष्ट हो गया तो फिर वृक्ष काट देते फिर निकलता फिर काट देते फिर निकलता ये थोड़ा शरीर नष्ट हो गया दूसरे थोड़ा शरीर फिर जन्म फिर मरण चलता रहता है जब तक अज्ञान है तब तक रहेगा क्षेत्र संज्ञक क्षेत्र हम संज्ञा उसका नाम क्षेत्र इदम शरीरम कहते यह क्षेत्र मित अभिधीयते भगवान कहते त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र नाम के शरीर है सर्व प्राणी कर्म फलाशय सब प्राणी कर्म के फल कर्म फल का आश्रय सर्व प्राणी को कर्म फल आश्रय कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिलता है भोगायतनम शरीरम कर्म का फल सुखो देखे उसका आश्रय है इसमें ही भोग होता है भोग आयतनम इसी वृक्ष में तम परिशक्तो दोनों उसमें स्थित है सुपर्णा विवाह अविद्या काम कर्म वासना से लिंगोपाधि आत्मेश्वर लिंगोपाधि आत्मा च ईश्वरश्च लिंगोपाधि आत्मेश्वर एक लिंगोपाधि और एक आत्मा लिंगोपाधि आत्मा और एक ईश्वर लिंगम उपाधि रस्य लिंगोपाधि सूक्ष्म सर जिसकी उपाधि हो जीवात्मा है वो लिंग का विशेषण है अविद्या काम कर्म वासना आश्रय आश्रय अविद्या काम इच्छा कर्म वासना संस्कार का आश्रय है अंतकण है यही लिंगोपाधि लिंगोपाधि का जीवात्मा है और दूसरा ईश्वर दो नैटिका में अविद्या काम कर्म वासना नाम आश्रय हो अविद्या काम कर्म वासनाओं का आश्रय है आश्रय होता लिंगम सूक्ष्म अंतकण में है अविद्या काम कर्म वासना का आश्रय और लिंगम उपाधि यसे स लिंग उपाधि आत्मा यस्य आत्मा न स आत्मा लिंग उपाधि लिंग उपाधि आत्मा वही जीव है सजीव तथोत तथोत अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि आत्मा ऐसे कहा गया सच ईश्वर इत ईश्वर जीवात्मा और ईश्वर तव तो इत्यर्थ दोनों यही शरीर में दोनों जीवात्मा और ईश्वर दोनों है मंत्र में तयोर अन्य पिपलम साधवती दोनों में से एक पिपल कर्म फल साधु फल भोग खाता है तयो परिशक्त और अन्य एक दोनों में से एक एक है क्षेत्रज्ञ जीव लिंगोपाधि लिंगम उपाधि से लिंगोपाधि वृक्षम आशीत पिपलम कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षण फलम स्वादु अनेक विचित्र वेदना आस्वादन रूपम स्वाद्वत्ति भक्षयति उपभुंक्ते अविवेकत तयोरन्य तयोप्यरिषतोरन्य एक क्षेत्र है लिंगोपाधि जीव वृक्षम आश्रित वृक्ष में आश्रित होकर के पिप्पलम ये पिपल असत पिपल भी कहते हैं ये कर्म फल है कर्म निष्पन्नम कर्म से होता है फल ये फल क्या सुख दुख लक्षणम ये फल सुख दुखात्मक है फलम स्वादु अति स्वादु है अनेक विचित्र वेदना आस्वादनम विचित्र वेदना है अनेक विचित्र वेदना का आस्वादना सुख दुख रूप है ऐसे सुख दुख अनुभव भोग करता है कर्म फल भोग करता अति का तो भक्षयति खाता है खाता है मतलब उपभोग भोग करता है सुख दुख अन्य तर साक्षात्कार है भोग अविवेक से ही भोग करता है अज्ञान के कारण अपने स्वरूप आनंद है ब्रह्म रूप है परिपूर्ण आनंद है उसको नहीं जान करके ये कर्म पर सुख दुख भोग करके कभी सुखी होकर के बड़े खुश होता है कभी दुखी होकर रोता है अज्ञान के कारण ये कर्म फल भोग करता है दूसरा है सर्वज्ञ नित्य ईश्वर है अज्ञान नहीं होने से वो कर्म फल नहीं खा करके चुपचाप बैठे हैं अन्य कौन है अनशन अन्य अभिचाकसी थी केवल देखता रहता है अन्य का इतर इतर है अविद्य उपाधि आत्मा लिंग उपाधि से अन्य ईश्वर है ईश्वर जो ईश्वर नित्य है शुद्ध है बुद्ध मुक्त स्वभाव शुद्ध है बुद्ध ज्ञान रूप है मुक्त स्वभाव तो मुक्त है बंधन है ही नहीं सर्वज्ञ है माया विशिष्ट होकर सर्वज्ञ सत्वोपाधि ईश्वर न अस्नाति सत्व उपाधि सत्व उपाधि ये भी ईश्वर भी औपाधिक है उपाधि वाला है जीवत है अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि लिंग शरीर का उपाधि ये सत्व उपाधि सत्व है टीका में सत्व मायाख्यम उपाधि रस्यति सत्व उपाधि माया त्रिगुणात्मक है तो सत्व गुण अधिक उनसे शुद्ध सत्व प्रधान को माया शब्द से कहते हैं ये सत्व है माया नाम को उपाधि जिसके माया उपाधि कहे ईश्वर न अस्नाधि वो अस्ना ही भो करता नहीं करता है ज्ञानात्मक से अम्ल राशि युक्तम ज्ञानात्मक है अमल सत्व राशि अमल है शुद्ध मल रहित रजतम गुण से मल से रहित अमल सत्व का राशि ढेर है सत्व है माया उपाधि है इति उत्तम अमल सत्वम शुद्ध सत्व प्रधान माया तत्व राशि रूप उपाधि इसे शास्त्र में कहा गया ये अन्य है ईश्वर अब न अस्नाती नहीं खाता है प्रेरिता ही असो उभयोर भोज्य वक्त्रोर नित्य साक्षित्व सत्ता मात्र न वो प्रेरक है ईश्वर दोनों का उभय दोनों का भोज्य और भोक्ता भोज्य है विषय भुगता है जीव ये दोनों का प्रेरक है नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण नित्य साक्षित्व सत्ता सत्ता मात्रेण सत्ता मात्रेण प्रेरक कुछ नहीं करके साक्षित्व साक्षित्व यद सत्व सत्ता अवस्थान साक्षित्व रूप से रह करके ही साक्षित्व न या सत्ता तन तन्मात्रेण साक्षी रूप से रह करके ही प्रेरणा करता है और कुछ नहीं करता है सत्व अनशन अन्य अभिचाकसिति नहीं खाता हुआ अभिचाकसिति भृषम पश्यति कसगति सास ने धातु है यंग लो करके बनाया पश्च्य वे केवलम केवल देखता है अत्यधिक भृषम देखता ही देखता है तो फिर प्रेरणा कैसे करता है दर्शन मात्र में तस् प्रेरित्व राजवत न राजवत है दर्शन मात्र तसे तम टिप्पणी राजवत इति न राजवत इत्यादि पठ्यते टिप्पणी के अनुसार मूल में न नहीं है तम राजवत और न राजवत इत्यादि पठ्यते न राजवत ऐसा ही पाठ है दर्शन मात्र ही तसे प्रेरितत्व ईश्वर का प्रेरकत्व दर्शन मात्र ईश्वर केवल देखते ही सब प्रेरणा होती है राजवत कहेंगे तो क्या राजा कुछ नहीं करके खाली सामने रहने से ही मृत्यु का प्रेरक हो जाते हैं और न राजवत कहेंगे तो राजा केवल देखने मात्र से नहीं कभी आज्ञा देते हैं धन देते हैं कुछ कर आज्ञा देते हैं दंड देते हैं तो न राजवत मतलब ये केवल दर्शन मात्र राजा जैसे कभी बोलते रहा नहीं राजवत इसे पाठ है तो राजा जिस प्रकार उपस्थिति मात्र से प्रेरक है इसी प्रकार प्रेरक है और न राजवत तो कहेंगे तो थोड़े राजा में कुछ व्यापार हो सकता है किंतु यहाँ साख्य में कोई व्यापार नहीं केवल दर्शन मात्र ही प्रेरक है अनस्नान्य अभिचाक दो है एक केवल साक्षी रूप से स्थित है और एक कर्म भोग होता है तो दोनों है एक ही कहता है दूसरे नहीं कर्म पर भोग नहीं करता है तत्र सती आगे के साथ समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यम जुष्टम यदा पश्यत्यन्नमीशमस्य महिमान मिति शोक समान वृक्ष में पुरुष निमग्न नेतरा मग्न डूबा हुआ अनिशया मोह्यमान शोचती ईशा से बिना अनिश असमर्थ है किसके लिए समर्थ नहीं मोह को प्राप्त करता है शोक करता है दुखी होता है यदा जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अन्य ईश्वर है सब के द्वारा जुष्ट सेवित है कर्म योगी आदि सब सेवन करने वाले ईश्वर को जब पश्यति जब उसको जान लेता है देख लेता है अस्य महिमानमिति ये सारे कुछ इसका ही महिमा है और वो अन्य जो ईसा है मेरा ही स्वरूप मैं ही हूँ इति जब देख लेता है तब तो वीत शोक हो जाता है शोक रहित तो हो जाता है तो वीत शोक हो जाता है संसार शोक से निवृत्त हो जाता है तत्रव सती सामान्य वृक्षे यथोक्त शरीर ये शरीर ही वृक्ष कहा गया उग्रस्य उच्छेदन धातु से बनता है वृक्ष इस शरीर का भी से छेदन उच्छेद होता है समान वृक्ष पुरुष और निमग्न पुरुष है जीव भोक्ता जीव अविद्या काम कर्म फल राग आदि गुरु भाराक्रांतो अलावरी व सामुद्र जल निमग्न निश्चय न मग्न निमग्न जीव है भोक्ता अंतकण विशिष्ट चेतन है जीव भोक्ता बुद्धि में चिदाभास उदय होने से चैतन्य प्रति में युक्त होने से वो जीव चेतन है जिसे लगता है वस्तुतः चैतन्य ही उसका स्वरूप है स्वभाव है अविद्या से युक्त अंतकरण विशिष्ट होकर के वो जीव कहा जाता है भोग करने वाला है पहला तो मूल है अविद्या उसके बाद अज्ञान है स्वरूप का काम है इच्छा और कर्म है पुण्य पाप कर्म कर्म फल कर्म होने से कर्म का फल प्राप्त करता है कर्म फल में राग आदि राग आदि सुख में राग दुख में द्वेष कर्म करेगा कर्म फल भोगना पड़ता है ये सब कर्म फल राग द्वेष आदि से आक्रांत गुरु भार आक्रांत ये लाभ है लौकी सुख सूख जाने पर तैरता है वो लौल की बड़े बड़े लौकी को बांध करके इसे रखेंगे तो नौका जैसे काम करता है नीचे गंगा पार करते बड़े बड़े लोग बांध करके उसके ऊपर को डाल दिया गंगा पार कर लेते नौका जैसे उसे यदि कुछ बांध देंगे तो नीचे डूबेगा नहीं तो ऊपर तैरता है गुरु भार आक्रांत होने पर डूबा हुआ किंतु थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखता है नीचे डूबा हुआ गुरु भार थोड़े भार से नहीं अधिक भार से आक्रांत होने से और लाभ रिव सामुद्र जल निमग्न लौकिक जैसे पूरा डूब स्वयं डूबा नहीं स्वभाव तो डूबता नहीं गुरु बाहर आक्रांत होने से डूबेगा इसी प्रकार जीव स्वभाव तो डूबने वाला नहीं है किंतु ये भार अविद्या काम कर्म फल राग आदि रूप गुरु भार से आक्रांत होने के कारण डूबा हुआ जैसे समुद्र जले समुद्र से एकदम समुद्रम समुद्र भवम समुद्रम समुद्र में होने वाले जल उसी जल में निमग्न जैसे अलाबू डबा हुआ इसी प्रकार संसार समुद्र में डूबा हुआ है निमग्न नि मग्न नितरा मग्न डूबा हुआ यहाँ निश्चय न मग्न निश्चय क्या देहात्म भाव आपनो अयम एव अहम अमुष्य पुत्रो अस्य नप्ता कृश स्थूलो गुरुवान निर्गुण गुणवान निर्गुण सुखी दुखी तेव प्रत्यय नास्त्यन्यो अस्मादिति जायते देहात्म भाव आपन्न देह में आत्मभाव को प्राप्त किया अज्ञान के कारण निश्चय करके ही मैं हूँ देह से आत्मभाव देहात्मभाव देहे आत्मभाव देह को आत्मत्व देह में आत्मत्व उसको प्राप्त किया हुआ करके अयम एव अहम देखता है मैं हूँ शरीर को दिखाता है हाँ मैं हूँ अयम एव छाती में दिखाता है मैं हूँ देह में अहम बुद्धिकरण से फिर अमुष्य पुत्र अमु का पुत्र अश्य नपता उससे पिता पिता का नाम बताता है तो कौन हो हमें अमु का मैं पुत्र हूँ वो कौन है तो पिता नहीं अमु का नाती हूँ पिता के पिता का नाम बताएगा अपना परिचय पूछते तो पिता का नाम फिर पिता को नहीं जानते कहते तो उनके पिता का नाम बताएगा उनका नपता हूँ कभी अपने को पतला कभी मोटा मानता है कृष पतला हो गया स्थूल मोटा गुणवान निर्गुण कुछ गुण अपने में लेकर गुणवान निर्गुण कभी सुखी कभी दुखी इति एवं प्रत्यय एवं प्रत्यय यसे स एवं प्रत्यय ऐसे वाला ऐसे ज्ञान वाला प्रत्यय नास्ति अन्य अस्मादिति और नहीं मानता इससे अलग कोई मैं हूँ देहा से आत्मा अलग कोई मैं हूँ आत्मा कोई है ये जो दिखता है ही मैं हूँ और क्या है अन्य ये देह से अलग कोई आत्मा नाम को शुद्ध है जो सुख दुखादि से रहित आनंद रूप है असंग है ये नहीं मानता है नास्ति अन्य इससे अन्य को ये नहीं इत इसे मान करके अज्ञान के कारण जायते मियते संयुजते व्यूजते ज संबंधी बांधव ही जन्म होता है मरता है मरने के बाद फिर जन्म फिर मरना फिर संयुजते व्यूजते किसके साथ संयोग किससे भी होगा संबंधी बांधवी कि संबंधी बांधवों से युक्त हो गया जन्म होकर के फिर मर गया सो छोड़ कर चला गया मैं मेरा मेरा मेरा करता है चला गया फिर कहीं दूसरे स्थान में फिर जाके वहाँ की किसी जोनी में गया उसी जोनी में भी मेरा मेरा करेगा वही मर जाएगा फिर कहाँ जाएगा कभी मनुष्य है तो कभी सर्प बन जाएगा कभी भेड़ बन जाएगा कभी पेड़ बन जाएगा कभी कुत्ता बन जाएगा बस ऐसे ही करता है अतो अनिशया न कश्यति समर्थो हम अनिश ईश से न ईश अनिश असमर्थ है किसी का मैं समर्थ न हूँ नहीं हूँ पुत्रों में भी विनष्टो मृता मृता में भारिया किम में जीवित है न इतम दीन भाव अनिशा ये अनिशा अनिशया सामर्थ्य क्या है कोई रोता है मेरा पुत्र मर गया भारिया पत्नी मर गई फिर मैं जीवन से क्या है कोई अतः बस और क्या हम जीवित रहना है बड़े रो रो करके थोड़े देने के बाद फिर ठीक हो जाता है पत्नी मर गई पुत्र मर गया तो बड़े दुखी होता है फिर थोड़े देने के बाद दूसरी शादी कर लेता है एवं दीन भाव ये दीन भाव अनिशा है इसे तया सोचती इसे शोक प्राप्त करता है संतप्यते मुह्यमान मोह को प्राप्त करता है अनेकेर अनर्थ प्रकार अविवेकतया चिंताम आपद्यमान अनर्थ से अविवेक कारण चिंता प्राप्त करके दुखी होता है स एवं प्रेत तिरेक मनुष्य आदि योनिषु आजवम जविभाव आपन्न टीका में आवरण विक्षेप से द्वयम अविद्या कार्यम अविद्या का कार्य के आवरण एक विक्षेप है अपने को नहीं जानता है अज्ञान जैसे दसम व्यक्ति गिनती कर नौ को देखते हैं नौ को देखने पर भी स्वयं अपने दशम नहीं जानते ये अज्ञान है अज्ञान का पहला कार्य है आवरण आवरण उनसे क्या कहता है नास्ति न भाति दसम अपने को नहीं जानता नौ को गिनती करता सामने देखता है देखते हुए अपने को नहीं जानता है यह हो गया अज्ञान उसका कार्य प्रथम कार्य आवरण आवरण होने से क्या कहता है नास्ति दशमो न भाति दशम नहीं है नहीं दिखता है ये आवरण के कारण अरे विक्षेप होता है दशम अमृत मर गया नदी में फिर सुड़ता है दुख को प्राप्त करता है ये अविद्या का दो कार्य एक आवरण के विक्षेप आवरण है पहला उसके कार्य विक्षेप तत्र ईश्वर भावा प्रतिपतिर अनिशा आवरणम शौचतिथि विक्षेप ईश्वर भाव की अप्रतिपत्ति अज्ञान ईश्वर भाव का ज्ञान नहीं होना ये ये स्वरूप है अज्ञान अनिशा आवरण आगे आवरण होने से शोचती विक्षेप सो करता है विक्षेप तद उभय हेतु दोनों का आवरण विक्षेप दोनों का हेतु अज्ञान अनिर्वाच्यम अज्ञानम मोह अनिर्वाच्य अज्ञान इसको मोह शब्द से कहा अनिर्वाच्य है अज्ञान का निर्वचन सत असत और उभय रूप से निर्वक्त न सकते तो अनिर्वाच्यम अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय ब्रह्म को कहते अवाच्यम अनिर्वाच्य कहते अज्ञान को अवाच्य का था पद का वाच्य नहीं किसी पद की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए क्योंकि पद शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध कुछ ब्रह्म में है ही नहीं अवाच्य है ब्रह्म शब्द से सदैव समय ग्रासित जितने शब्द सब लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे कोई किसी का वाच्य अर्थ नहीं है इसलिए अवाच्य है और अज्ञान होता अनिर्वचनीय अनिर्वाच्य निर्वक्त न सके थे यत्न शक्य थे तत्न निर्वाच्यम किंतु अज्ञान अनिर्वाच्यम निर्वक्त न थे निर्वक्त निर्वचन निरूपण सत का नहीं कह सकते असत नहीं कह सकते सत असत उभय नहीं कह सकते इसलिए कहते अनिर्वचनीय अनिर्वाच्य सत नहीं कह सकते क्योंकि सच्चे न बाध्य तो सत्य ब्रह्म उसका बाद नहीं होता त्रिकाला बाध्य त्रिकाला बाध्यत्व सत्व सत्यत्वम अज्ञान सत तो होता तो बाध नहीं होता है नहीं होता असत्य न प्रतीयत असत होता है स्वस विषाण बंध्यापुत्र प्रत्यक्ष कभी नहीं दिखता है ये प्रतीयते च बाध्यते च प्रतीत तो होता है दिखता है और बाधित तो भी हो जाता है ज्ञान से नष्ट हो जाता है इसे सत भी नहीं असत भी नहीं सत नहीं असत नहीं तो उभय हो उभय कोई नहीं दृष्टांत नहीं मिलता है जो सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसको अनिर्वाच्य शब्द से कह देते हैं अज्ञान मोह से मोह मोह्यमान तेन विचिट हो ऐसे अज्ञान से मोह होता है भ्रम होता है उसको भी, भी अज्ञान शब्द से कह देते तो से युक्त होकर अन्य के अनर्थ प्रकार अनर्थ से युक्त होकर के अज्ञान के कारण दुख को प्राप्त करता है अहम करोमि इत्यादि भी अविवेकतया तादात्म्यापन्नतया बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य हो जाता है भ्रांति से बुद्धि के धर्म का आत्मा में आरोप करता है तो करोमि अहम करोमि बुद्धि में विकार होने से चांचल्य होने से आत्मा में आरोप करके अहम करोमि इसे तादात्म्यपन्न करके अनेक अनर्थ प्रकार अविवेकतया चिंता में आपद्यमान चिंता को प्राप्त करता है सव एवं प्रेत तिरक मनुष्य आदि योनिषु आजवम प्रेत योनि में तिरक पशु पक्षी मनुष्य आदि योनि में निरंतर प्राप्त करता है आजम निरंतर अनवरतम टीका में दिया आजवम अनवरतम निरंतर इसे प्राप्त करता है जवी भाव आपन्न जवी भाव आपन्न है निकृष्ट भाव टीका में दिया जवी भाव निकृष्ट भाव निकृष्ट भाव लक्षण या लघु भावम लघुत्व को प्राप्त करके भाष्य में कदाचित अनेक जन्मसु शुद्ध धर्म संचित निमित्त केनचित परम न दर्शित योग मार्गो अच्छा टीका में पहले थोड़ा सा है जबी भाव का अर्थ क्या निकृष्ट भाव लक्षणा लघु भावम लघु होने से क्या होता है कर्म वायु प्रेरिततया जबी भावम कर्म रूप वायु से प्रेरित है जिससे हल्का उनसे वायु उड़ा देता है कर्म इस प्रकार है वायु जैसे उसको शीघ्र जब लेकर के क्षैप्रम आपन शीघ्र कहीं कहीं लेकर उड़ा देता है कहीं जन्म देता है तो भाष्य में है कदाचित ऐसे ही कर्म प्राप्त से कर्म पर भोगने के लिए प्रेत तिरक मनुष्य आदि नाम ले लिया कुछ चौरासी लाख योनि में भटकता है जन्म मरण जन्म मरण लगा निरंतर अनवरतम लगातार चलता है तो कभी कभी से अनेक जन्म सु बहुत जन्म में पुण्य कर्म कुछ करता है कभी सत्कर्म करता है वो रहता है नष्ट नहीं होता है दुखी होता है कितने में पुण्य कर्म करता हूँ मुझे दुख मिलता है दुख तो पाप कर्म का फल है सत्कर्म करता है तो व्यर्थ नहीं होता है कभी वो सत्कर्म रहता है बल्कि सत्कर्म करते समय फल इच्छा नहीं करे तो अच्छा है फल इच्छा करके फल भोग कर इस जन्म में दूसरे जन्म में वो समाप्त हो जाता है पुण्य यदि निष्काम होकर सत्कर्म करता है वही कर्म शुद्ध धर्म उसको कहते हैं शुद्ध है निष्काम कर्म उपासना करने से शुद्ध धर्म होता है शुद्ध धर्म बनने से कर्म अशुक्ला अकृष्ण योगी नाम शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं कृष्ण निषिद्ध कर्म है पाप शुक्ल है पुण्यकर्म जिससे स्वर्ग आदि प्राप्ति होती है कि जो मुमुक्ष साधक है पाप कर्म तो नहीं करता है और पुण्य सत्कर्म करता है तो फल इच्छा से नहीं निष्काम करता है तो वो उसको पुण्य अपुण्य अशुक्ल अकृष्ण कृष्ण नहीं शुक्ल नहीं यही कर्म होता है शुद्ध धर्म शुद्ध धर्म एक जन्म में बहुत नहीं कितने जन्म अनादिकाल से कितने जन्म हो गए अनेक जन्म से शुद्ध धर्म बढ़ते बढ़ते बढ़ते धर्म का संचित निमित्त धर्म संचित इकट्ठी होने पर उसके कारण उस निमित्त से कभी प्राप्त होते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त होता है कोई कारुणिक गुरु प्राप्त होते हैं अनेक जन्म के पुण्य कर्म इकट्ठे होने पर के नचित परम कारुण के न किस परमश्च कारुणिक कृपा से उपदेश करने वाले दर्शित योग मार्ग दर्शित है योग मार्ग यस्मय जिसको योग मार्ग का उपदेश किया गया उपदेश करेंगे ऐसे करो ऐसे अनुष्ठान करो यही श्रवण करो ध्यान करो योगाभ्यास करो आसन प्राणायाम करो सब बताने पर तब अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग समदमादि संपन्न तब सट संपत्ति अहिंसा हिंसा एक आसुरी संपत्ति है अहिंसा गुण सत्य सत्य भाषण के जैसे अंतकोण शुद्धि हो शुद्धियन से सत्य भाषण सत्य एक बड़ा तप है फल है ब्रह्मचर्य भी और सर्व त्याग जितने इच्छा करता है अधिक इतने अज्ञान इतने संसार बढ़ता जाता है इच्छा जो कभी कुछ विच्छा हो जाए इच्छा के विषय यदि दृढ़ करके बार बार इच्छा करे इच्छा फल देती है फल प्राप्त होने के लिए इस जन्म में नहीं होगा तो कभी ना कभी किंतु इच्छा जितने संस्कार रहने से कभी कुछ सत्कर्म करेगा वो कर्म उधर जाएगा वही फल देने के लिए सत्कर्म इससे समाप्त हो जाएगा और फल भोग करके समाप्त हो गया फिर जैसे कुछ जैसे खाली पेट हाथ है भोजन किया दूसरे दिन खाली पेट है कर्मफल भोग लिया फिर बाद में खाली फिर इच्छा बढ़ेगी और चाहिए इच्छा करके भोग करने से इच्छा की निवृत्ति नहीं होती उसी समय तो लगता है इच्छा समाप्त तो होगी आगे फिर इच्छा होती है इसलिए कामना एक इच्छा है ये बड़ा है ये संसार को बढ़ाने के लिए जब इच्छा का त्याग करे कुछ नहीं चाहिए स्वरूप ज्ञान परमात्मा प्राप्ति निरति से आनंद रूप अपना स्वरूप समझने के बाद ये संसार चल रहा है अनादिकाल से जा आगे कहाँ जाना क्या करना कोई ठीक करना नहीं सारे समाप्त होने के बाद कहाँ जाना क्या कैसे अभी है समय इस समय कुछ किया जा सकता है कर सकते हैं ये समय को नहीं करके समाप्त हो गया तो आगे तो कुछ नहीं कर सकते अंत मरने के बाद क्या मरने के पहले भी अंतिम समय में भी कुछ नहीं कर पाएगी उस समय पता चलता है क्या करना था और मैंने क्या किया आगे कहाँ जाना है दिखता है उसको सामने सामने दिख जाएगा कहाँ जाना है बड़े दुखी होता है उस, उस समय कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रहता है कि महम म करवम कि महम पुण्यम ना करवम क्यों सत्कर्म नहीं किया क्यों पाप कर्म किया बड़ा पश्चाताप करता है ना किसको बता सकता है ना कुछ कर सकता है अंतिम समय बड़ा दुख होता है ये सब विचार करके जब सब इच्छा त्याग करता है सर्व त्याग ये शरणात्र संन्यास मुख संन्यास वही सन्यासी है सब त्याग फिर सम दम अंतकण सम बाह्य इंद्र निवृत्ति दमन है ये समदम आदि संपन्न युक्त होने पर ही साधक होता है <clears throat> समाहित आत्मा समाहित आत्मा ऐसे आत्मा अंतकण समाहित शुद्ध अंतकण वाला होता है ऐसा होकर समाहित आत्मा सन तब जो जुष्टम पश्यति जुषि प्रीति सेवन जुष्टम का तो सेवितम किसके द्वारा सेवित परमात्मा अनेक योग मार्ग ही अनेक योग मार्ग में स्थित योगियों के द्वारा कर्म भी कर्म करने वाले योग मार्ग ऐसा योग योग मार्ग योग मार्ग ही कर्म भी जब उसको पश्यति यदा यस्मिन काले पश्य जिस समय ध्यायमान ध्यान करते चिंतन करते करते किसको पश्यति पश्यति अन्यम उसे भिन्न ईश्वर को अन्यम ईशम वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षण वृक्ष शरीर रूप उपाधि वृक्षोपाधि लक्षण जीव है उसे विलक्षण ईशम जो असंसारी नम जो संसारी नहीं असंसारी है असनय पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम उससे भिन्न है साक्षी आत्मा है चेतन वही ईश्वर है असनाया क्षुधा पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु से रहित ईशम जब देखता है सर्वस्व जगतो अयम अहम आत्मा ये सारे जगत का सर्वस्य जगत आत्मा में हूँ अयम अहम अस्मि वो अपना स्वरूप है अन्य जो पहले अन्य दिखता है बाद में देखता है कि वही मैं ही हूँ सारे जगत का आत्मा मैं ही हूँ सर्वस्य सम समान रूपे सर्वभूतस्थ सारे भूत में स्थित ही की आत्मा है बिंब रूप चेतन सर्वत्र व्यापक है देह परिचन्न है चिदाभासी परिचन्न दिखता है एक आत्मबिंब रूप एक ही मैं हूँ इतर न अन्य कोई नहीं है अविद्या जनित उपाधि परिचिन्न ये मैं नहीं अविद्या जनित उपाधि देहादि आदि उपाधि परिचिन्न परिचिन्न मैं नहीं हूँ परिचिन्न जो सब कल्पित है अविद्या से ही उपाधि है उपाधि परिचिन्न भी कल्पित है वास्तव नहीं माया आत्मा माया है माइक स्वरूप मैं आत्मा टीका थे मिथ्या आत्मा देहादि में नहीं हूँ परिचन्न में नहीं हूँ इति विभूति महिमानम ये देखता है यही मेरा ईश्वर का ही की महिमा है विभूति महिमा ऐश्वर्य अयम महिमा जगत रूपम सारा जगत इस आत्मा में है इस आत्मा कौन है अस्य एवं मम परमेश्वर से वही परमेश्वर का अहम अस्मि ब्रह्म मेरे ही सब महिमा ये सब कुछ दिखता है मेरे में मेरे से भिन्न कुछ नहीं है केवल दिखता है इति यदा एवं पश्यति अन्यम जुष्टम ईश्वर को जब साक्षात्कार कर लेता है पर ब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है इदम असो ऐसा नहीं अहम अस्मि तभी साक्षात्कार जब तक तो भेद ज्ञान होता है तब तो तक तो भ्रम है माया अविद्या के कारण भेद बुद्धि होती है यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष होगा ब्रह्म ज्ञान से नहीं यथार्थ ज्ञान है अहम अस्मि परम ब्रह्म यदा एवं दृष्टा जब साक्षात्कार कर लेता है बीत शोक हो जाता है तथा बीत शोक भवती सर्वस्मा शोक सागरात विप्रमुच्यते शोक समुद्र से मुक्त हो जाता है सारे शोक से रहित तो हो जाता है कृतकृत्य भवती तीर्थ कृतम कृत्यम ये न करने योग्य पदार्थ जो करना था सो कर लिया अनादिकाल से इसे भटक रहा है जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक कृत्य कृत्य नहीं होता है कुछ करने लेने से लगता है मैं कृत्य कृत्य हो गया थोड़ी देर देर के बाद फिर सब शोक करता फिर दुखी होता है टीका में थोड़ा रह गया जबी भाव कैपर मापन पूर्ववदित अभेदना पूर्ववध आया जविभावम होता है तादात में हो करके ऐसे ही निरंतर जन्म मरण को प्राप्त करता है पहले आया अन्योपि मंत्र इमवेवार्थम आ सविस्तरम आगे मंत्र भी इस अर्थों को विस्तार के साथ कहता है यदा पश्य पश्य तेरुक्म वर्णं पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापेन विधूय निरंजन परम साम्यम उपैति यदा पश्य रुक्मवर्णम पश्यते ईशम कर्ता पुरुषम ब्रह्मयोनिम रुक्मवर्णम पश्यते तदा विद्वान पुण्यपापी विधूय निरंजन परम साम्यम उपैति पश्य पश्यती पश्य पाघ्राध्मा दिशा स नीचे है धमा धे दिशस दृष्ट धातु से कर्तरी स प्रत्य होता है तो पाघ्राधमा स्थामना से पश्चादेश हो जाएगा सप होकर के पश्य बनेगा पश्य दृष्टा यह पश्यति सपश्य त्रिचिकरण तो दृष्टा बनता है सहन से पश्य बनेगा दृष्टा पश्यते पश्यति है परस्मय पदे आर्ष छांद से प्रयोग है वैदिक प्रयोग आत्मनिपद हुआ यदा है ना यथा है यदा यदा पश्य पश्यते रुकम अवर्णम यदा रुकम अवर्णम स्वयं प्रकाश रुकम है सुवर्ण है ये स्वयं वर्ण सब सब पश्यते कर्तारम सबके कर्ता ईश्वर है वही पुरुष ब्रह्म योनि ब्रह्म च तोनि से ब्रह्म योनि ब्रह्म है और सबका कारण अथवा ब्रह्म है कार्य अपर ब्रह्म का कारण है तथा विद्वान ज्ञानी पुण्य पाप रहित तो हो जाता है निरंजन अंजन रहित तो सबसे रहित तो हो जाता है निर्लिप होकर के परमम साम्यम उपेति प्राप्त करता है परम साम्य समत्व का विशेषण परम साम्य कौन से ऐक्य को प्राप्त करता है तभी परम साम्य यदा भाष्य में यदा यस्मिन काले पश्य पश्यति पश्य विद्वान साधक साक्षात्कार कर लेता है पश्यते का तो पश्यति पूर्वध ये पूर्ववत का अर्थ टीका में दिया पूर्ववत अभेदेन इत्यर्थ अभेदेन पश्यति अहम अस्मी करके <clears throat> टीका में जब भाव क्षयप्रम आपन्न हो यहाँ विराम द्वितीय मंत्र का हो गया तृतीय मंत्र की टीका इतने पूर्ववध का था पूर्ववदित अभेदन यहाँ पूर्ववध अभेदन पश्यते हम अस्मी करके रुक्म वर्णम रुक है स्वयं ज्योति स्वभाव है पर ब्रह्म रुक्म से वा ज्योतिरसेति रुक्म है सुवर्ण है सुवर्ण के समान ऐसे ही अस्य अविनाशी करता अविनाशी स्वरूप है कर्तारम करता है सारे जगत का सर्वस्व जगत कर्तारम ईश ईश्वर पुरुष है ब्रह्म योनि ब्रह्म च तद ब्रह्म योनि असो ब्रह्म योनि कर्मधार होगा ब्रह्म है वो सबका कारण है तम ब्रह्म योनि अथवा ब्रह्मण व परस्य योनि अपरस्य ब्रह्मण योनि अपर ब्रह्म का भी कारण पर ब्रह्म है सयदा च एवं पश्यति साक्षात्कार कर लेता है तदा स विद्वान वही पश्य कहा विद्वान पश्य पुण्य पापे विधूय पुण्य पाप दोनों बंधन रूपे है पाप भी बंधन पुण्य भी बंधन दोनों को समाप्त कर देता है ज्ञान होने पर पुण्य बंधन होते कर्मणि समूले विधूय द्वितीय दिवचन दोनों कर्मणि को नष्ट करके समूले मूल न सह मूल अज्ञान है अज्ञान के साथ ज्ञान होने पर कर्म नष्ट हो जाने पर विधुय विधुय कहते हैं निरस्य निरा दग्ध्वा ज्ञान से कर्म दाह हो जाता है तब निरंजन हो जाता है अंजन निर्लिप हो जाता है विगत क्लेश अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशादि से रहित हो जाता है शुद्ध होता है तो परमम साम्यम उपैति परम का तो प्रकृष्टम प्रकृष्ट होता है निरति से जिससे बढ़कर और को है नहीं अत्यधिक साम्यम समताम समत्व को अत्यंत समत्व अर्थात अद्वैय लक्षणम अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है द्वैत विषयाणी साम्यानी अत अर्वांची एवं द्वैत में जो समता है सादृश्य है कुछ समता है जहाँ जहाँ जहाँ जहाँ द्वैत में साम्य है उसके समान अर्थात उससे भिन्न है भिन्न होकर कुछ सादृश्य होगा साम्य होगा जितने द्वैत विषयानि साम्यानि अतो अर्वांश से निकृष्ट है क्योंकि सादृश्य दया टिप्पणी में भेद समाना समानाधिकरणानि इत्यर्थ तद भिन्न सति तदगत भूयो धर्मवत्वादि रूपाणी सादृश्य जो होता है तद भिन्न सति तदगत भूयो धर्मवत्व सादृश्य समता जितने साम्य द्वैत में ये निकृष्ट है और अद्वैत जो हो गया ये तो परम अतो अर्वांची ये सब निकृष्ट है अतो अद्वैय लक्षणम ये तत् परम साम्यम परम साम्य जो होता है अद्वैय नाम रूप रहित ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है परम साम्य उपेत कहने से एक ब्रह्म तो अपनोति परम पर ब्रह्म को प्राप्त करता है तो ब्रह्म हो जाता है नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है प्राणो हेवे प्राणो हेशय सर्वभूतेर्वि भाति बीजानन विद्वान भवतेनातिवादी आत्मक्रीढ़ आत्मरति क्रियावान एस ब्रह्म विदामिष्ठ प्राणो ही एस के प्राण है प्राण से प्राण श्रुति में कहा गया प्राण का भी प्राण सर्वभूतेर्विभाति सर्वभूत से ही भूत रूप से विशेषण भाति विभिन्न रूप से प्रकाशमान है विजानन विद्वान इसको जो जान लेता है ज्ञानी अतिवादी न भवते भवते नातिवादी भवते चांद सब आत्मनिपदे अतिवादी नहीं होता है जब कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है जितने जानता है उसको अतिक्रमण कुछ बोलेगा तो अतिवादी होगा जब सर्वभूत से प्राण ब्रह्म ही भान होता है ज्ञान हो गया और अज्ञान तो कुछ नहीं है अतिक्रम करे क्या बोल सकता है अतिवादी न भवती अतिक्राम्य बदती थी तो अतिवादी अतिक्राम करके बोलेगा अतिक्राम करके अतिक्रांत करे नहीं बोल सकता है सब जब जान लिया और कुछ है ही नहीं आत्मक्रीड़ा आत्मनि क्रीड़ा आस्य और आत्मा में रति है क्रीड़ा रति में अर्थ बताएंगे बाह्य साधन से क्रीड़ा बाह्य साधन के बिना रति केवल आसक्ति मात्र क्रियावान ऐसा ही आत्म क्रीड़ा क्रियावान एक तो है एक पद भी कहीं पाठ है यहाँ तो क्रियावान का था ज्ञान ध्यान वैराग आदि क्रिया कहीं आत्म आत्मरति क्रियावान एक पाठ एक साथ भी आत्मरतिप क्रिया और कुछ क्रिया नहीं ज्ञान ध्यान वैराग आदि क्रिया वाला है ये क्रिया का तो कर्म नहीं वही ज्ञान ध्यान ब्रह्म विदाम वरिष्ठ ब्रह्म ज्ञान में वरिष्ठ वरतम ओम